अधिष्ठाता है तीनों कालों की बात यथावत जानता है सर्वों में से अधितिष्ठती सबका जो अधिष्ठाता है सबका जानने वाला है और स्वर यसे च केवलम स्वर जिसका स्वरूप सुखमय है आनंद से जो परिपूर्ण है स्वर से केवलम केवल सुख स्वरूप ही है जो दुख का उसमें लेश नहीं है तस्मय ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः उस महान परमात्मा को मैं नमस्ते करता कुछ तो समझ में आया या नहीं आया हुँ? हम्म? नहीं आया <laughs> नहीं आया समझ में आ गया भूत भविष्य वर्तमान का जो अधिष्ठाता पूरे विश्व का जो जानने वाला तीनों कालों का ज्ञान जिसमें एक रस है में से अधितिष्ठति और स्वर्य से केवलम स्व सुख आनंद केवलम स्वर्य केवल सुख स्वरूप है जो दुख नहीं है उसमें बिल्कुल तस्मयी उसके लिए ज्येष्ठाय महान के लिए नमः मैं नमस्ते करता हूं अब तो आ गया समझ में नहीं हाँ, हाँ करो हां जी असल में आपने पढ़ना पढ़ाना छोड़ रखा होगा जो पढ़ना पढ़ाना छोड़ देता है उसको पढ़ना पढ़ाना नहीं आता दो बार उसको शिक्षा देनी पड़ती है कैसे पढ़ना चाहिए

है व्रतों का धारण करना संकल्प लेना व्रति बनना प्रतिज्ञा करना क्या है बिना व्रतों के बिना संकल्प के बिना व्रति बने कोई व्यक्ति बुराई से छूट नहीं सकता और अच्छा व्यक्ति बन नहीं सकता पुरुष की तो क्या कथा है परमात्मा सदा से व्रति है अनादि काल से उसकी प्रतिज्ञा जो के जो है नई प्रतिज्ञा परमात्मा नहीं लेता हम प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हैं इसलिए दोबारा हम उनकी आवृत्ति करते हैं प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि मैं सता सत्य ही बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा ऐसे हमको दोहराना पड़ता है ईश्वर अनादिकाल से प्रतिज्ञाबद्ध है ईश्वर की भांति जो प्रतिज्ञाबद्ध होकर चलता है वह ईश्वर के अनुरूप बनता जाता है जो प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है वो ईश्वर के अनुरूप कभी नहीं बन सकता ये न्यूनता ये कमी व्यापक रूप में होती है तो अपने अधिकारियों ने पत्रक प्रकाशित करवा लिए हैं वो आपको पत्रक देंगे जिसमें धारण करने योग्य व्रत प्रतिज्ञा एक सूची है और छोड़ने योग्य अर्थात त्रुटियां उनकी भी एक सूची है आज इसे देखना आरंभ करो कि हमने कौन कौन से संकल्प लेने हैं और कौन कौन से दोष हमारे जीवन में हैं जिनको हम संकल्प लेते हैं कि इनको नहीं करना मैं आपको जो सुनाता हूं पढ़ाता हूं सिखाता हूं और मैंने पढ़ा है पढ़ाया है ये कोई साधारण परिश्रम नहीं किया गया है ये सब संकल्पों पर चला है वो सारी कथा मैं नहीं सुना सकता इंद्र अपने इंद्रपाल जी है ना वो सुनाने लगे थे मैंने कहा मत सुनाओ इतनी लंबी कथा हो जाएगी पर एकाध सुना देते हैं अधिक नहीं मैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब गया था तो मेरी अवस्था 22 वर्ष की चल पड़ी थी बाईस वर्ष में प्रवेश किया है और उससे पहले मैं एक दिन भी विधि पूर्वक विद्यालय में नहीं गया अब कैसी कैसी कथा सुनाऊंगा आप बड़ी विचित्र है तो ध्यान दो यहां पर एक सार रूप में बात थी बिना संकल्प के बिना प्रतिज्ञा के बिना वर्ग के कोई व्यक्ति महापुरुष हुआ नहीं आज मिलेगा नहीं आगे उत्पन्न नहीं होगा अड़तालीस हुआ पचास वर्ष पहले मैंने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली थी लगभग बीस इक्कीस वर्ष की अवस्था होगी क्या होगी ध्यान देना असावधानी के कारण शीघ्रता के कारण अज्ञानता के कारण कोई बात निकल जाए अलग बात बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक रचनापूर्वक आज तक कोई झूठ ने बोला और न लिखा इसी आधार पर क्या समझ में आया आ गया समझ में एक से ही समझ लेना सारी बातें एक एक ये व्रत के ऊपर आधारित है मोरिशस जा रहे थे आर्य समाज का सम्मेलन था मेरी जन्म तिथि पूछी गई लिखो बार पत्र में जन्म तिथि कहीं नहीं माता पिता पढ़े लिखे नहीं दादा पढ़ा लिखा नहीं पड़ोसी पढ़े लिखे नहीं अब वो जन्म तिथि कहीं नहीं मिली वो कहने लगे कि जन्म तिथि आपने नहीं लिखी तो मोरिशस का जो किराया लगा है पानी के जहाज का वो खत्म अब मेरे सामने समस्या खड़ी होगी मंत्री जी कहते लिख मारो जो कुछ है कौन पूछता है मैंने कहा यह नहीं हो सकता मैंने बिल्कुल नहीं लिखा मेरी अवस्था इतनी है और जन्म तिथि का मुझे पता नहीं इतने से आगे मैंने कुछ नहीं लिखा से चला गया ये तो एक घटना है पता नहीं कितनी घटना है ये व्रतों के आधार पर हुई है संकल्पों के आधार पर हुई है इसलिए इस पर जोड़ दिया जाता है हो गया याद एक बात और याद रख रही आज की हम जो सिखाते हैं पुरुष हैं माताएं हैं उनसे सुनते हैं हम मौखिक परीक्षा लेते हैं आप बताओ कौन कौन देंगे मौखिक परीक्षा हाथ खड़ा करो मौखिक परीक्षा तो दिखाई तो नहीं दे रहा कोई एक दो तीन अब माताओं में से तो वो तो नई आई होंगी या पहले से आ रही होंगी इसका अभिप्राय क्या है जो आपने विद्या सीखी ओम का जप कैसे करें प्राणायाम कैसे करें जी समाधि कैसे लगती है व्यवहार काल में कैसा बर्ताव करें उपासना काल में जो सीखते आए हैं आप खड़े होकर सुनाइए कि हमने इस आर्य समाज के अपने कार्यक्रम में दो मिनट तीन मिनट ये ये चीजें सीखी मन एक जड़ पदार्थ है पहले हम समझते नहीं थे मन जड़ पदार्थ है ये आपको बताना पड़ेगा मतलब विशेष विशेष बातें उपदेश नहीं देना हमको क्या उपलब्ध हुआ क्या प्राप्ति हुई एक दो तीन कुछ तो सुनाओ ये दो काम होते मुख्य इसको हम या तो परसों प्रातः काल करें कौन सा ठीक रहेगा आप अधिकारी लोग मिलकर तो विचार लें वाले विषयों को छुएंगे हमने प्रकरण उपस्थित किया था कि जो व्यक्ति इस विश्व को तीन विभागों में विभाजित करके तीनों तत्वों को ठीक ठीक जानता है वो सफल है और अन्य व्यक्ति जो गलत जानता है या नहीं जानता वो भी फल है ध्यान से सुनिए मानव जीवन का लक्ष्य चरम लक्ष्य साध्य क्या है एक साधक कौन है दो और साधन क्या है तीन जो तीन को जानता है वो व्यक्ति सफल है पर तीन विभाग बनाइए जो तीन को नहीं जानता वो विफल है जो तीन गलत जानता है वो विफल है और तीन सही जानता वो सफल है ईश्वर हमारा साध्य है एक जीवात्मा साधक है अन्य जितनी भी चीजें बच गई वो साधन है आज का भौतिक वैज्ञानिक की बात को नहीं मानने के लिए तैयार है आपके सामने समस्या है भौतिक वैज्ञानिक नहीं मानने के लिए तैयार है और आज ये लाखों करोड़ों लोग भौतिक वैज्ञानिकों को शिष्य हैं वो पढ़ाते हैं ये नीच पीछे चलते हैं वैज्ञानिकों से बात होते होते मैंने ये पूछ लिया कि आप ये बताओ आप विज्ञान की खोज क्यों करते हो उन्होंने कहा कि सत्य को जानना चाहते हैं मैंने कहा सत्य को जानना अंतिम लक्ष्य नहीं है इसलिए जाना जाता है सत्य के जानने से हमको आनंद मिलता है क्या समझ में आया बड़ा अंतर है दोनों में सत्य को जानने के पीछे क्या परिणाम निकलेगा सत्य जानने मात्र से कोई काम नहीं सिद्ध होता हाँ अंतिम चरम लक्ष्य को पाने के लिए सत्य को जानना आवश्यक है ये तो ठीक है पर सत्य जानना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है वजीर बुद्धिमान दो चार बार मैंने कहा मैंने कहा सत्य को जानना चरम लक्ष्य नहीं बन सकता ऋषि वेद ये मानते हैं सत्य को इसलिए जानना है कि हम अंतिम आनंद की प्राप्ति कर लेने नहीं तो सत्य जानने का कोई लाभ नहीं है तो उसने मान लिया कि हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी वैज्ञानिक यदि खोज करते हैं वो सुखी प्राप्ति के लिए करते हैं और सुखी खोज थोड़ी हो रही है देखिए वैज्ञानिक जिस चीज को जानना चाहते हैं वो सुख ही तो खोज है वो सुख को प्राप्त करना चाहते हैं खोज मात्र से काम नहीं चलता तो स्मरण रहे ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य बनता है और लक्ष्य नहीं बनता व्यक्ति का क्या समझे आप बोलो मानव जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही बनता है भोग प्राप्ति नहीं बनता ये पीछे राजा महाराजा हुए चक्रवर्ती राजा हुए और आपने पढ़ा होगा सत्या प्रकाश को आदि सृष्टि से लेकर के महाभारत काल तक आर्यों का चक्रवर्ती राजे रहा है भूगोल में क्या समझ में आया आ गया समझ में नहीं आया कितने राजा महाराजा हुए ऋषि महर्षि हुए किसी ने भी ये बात नहीं मानी कि भोगों की प्राप्ति चरम लक्ष्य है आज तक ये मानते आए हैं मानव जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है इसके कारण को फिर से सुन लीजिए आप ईश्वर की प्राप्ति इसलिए लक्ष्य बनता है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के पश्चात व्यक्ति ये कह उठता है जो मैंने पाना था जो पा लिया लौकिक भोगों की प्राप्ति के पश्चात कोई व्यक्ति ऐसा कहने वाला नहीं हुआ न होगा जो ये कहे कि मैंने जो पाना था जो पा लिया नहीं हुआ कोई दूसरी बात ज्ञान विज्ञान अनंत है उसकी कोई सीमा नहीं है जानते जानते व्यक्ति एक ऐसी जगह पर पहुंचता है वो ये कह उठता था कह उठता है कि मैंने जो जानना था सो जान लिया अब जानना बाकी नहीं रहा वो क्या है बताओ ब्रह्मणी अरे विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवती ईश्वर को जान लेने के पीछे व्यक्ति संतोष को प्राप्त होता है और कहता है मैंने जो तो जानना था सो जान लिया अन्य कहीं भी नहीं होता बीस विषय का कोई वैज्ञानिक विद्वान बन जाए वो ये नहीं कह सकता मैंने जानना था जो जान लिया नहीं होगा कभी भी इसलिए तुलनात्मक अध्ययन कीजिए यदि तुलनात्मक अध्ययन नहीं है तो याद रख लेना आस्तिक लोग भाग जाएंगे नास्तिक लोगों का राज्य होगा अब भी हो चुका है बहुत अभी नास्तिकों का यह प्रबल रूप से और जो बचे हुए हैं हम ये सारा का सारा उनके अधिकार में जाएगा आपकी यदि इतनी तैयारी नहीं है इतना संगठन नहीं है इतनी बुद्धि नहीं है इतना ज्ञान विज्ञान नहीं है आम उनके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते तो निश्चित रूप में नास्तिकों का जो है राज्य आएगा और हम उसके नीचे कुचले जाएंगे आप मेरी बात सुने ना सुने माने ने माने आप और हम जीवित रहे तो देख लेना आप पर इसका यह मतलब नहीं है कि अवश्य उनका राज्य आएगा <laughs> यह मतलब नहीं है नहीं समझे हम संगठित होंगे हम तैयारी करेंगे हम वैज्ञानिक बनेंगे हम शक्तिशाली बनेंगे तो उनका राज्य नहीं आने देंगे अब तो आ गया समझ में आएगा का मतलब कोई आएगा पांच पर ढीले छोड़ दो इसको भी ध्यान में रखो विपक्ष में कि यदि हम संगठित हैं यदि हमारी शक्ति अधिक है यदि हम लड़ाइयां लड़ेंगे युद्ध करेंगे अन्याय के साथ में तो उनका राज्य नहीं आएगा बाद में ये छोटे छोटे बच्चे पांच वर्ष का बच्चा पांच वर्ष की लड़की नाच गाने देखने में तल्लीन है भगवान का भजन उसके साथ में कोई नहीं है और ये चित्र घरों में देख लो अपने में भौतिकवाद हमारे सिर पर आ चढ़ा है उसने भगवान को ईश्वर को खत्म कर दिया जैसे है चरित्र का नष्ट भ्रष्ट कर दिया है कोई उसका ठिकाना नहीं है कमाई का कोई ये सीमा नहीं है कि ये मत करो ये मत करो जो चाहे सो करे खा जाओ लूट के बड़ी रोचक कथा सुनाई कहने लगी एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया और वो झगड़ा भी क्या हुआ था उसने जहर खरीद लिया उसको खिला दिया वो मरा ही नहीं बताओ क्यों नहीं मरा हाँ जी बोलो जहर खिला दिया और मरा ही नहीं उन्होंने कहा नकली जहर खिला दिया जहर भी नकली मिलता है यहां तो यहां तक पहुंचा ध्यान देना मेरी भावना कहां बोल रहा हूं इसको याद रख लेना ये बात बनाने की नहीं है हम तो बस कार्य में बात साधे हैं हम देह में पाते हैं इस इस बात को लेकर चलते हैं इसका क्या अर्थ है कार्य में साधे जब कार्य को तो सिद्ध करेंगे और नीति को ही खत्म कर देंगे अगला जन्म फेर ले लेंगे नहीं या नहीं अगला जन्म होता है क्या ये बातें मैं आपको क्यों सुना रहा हूं आज जो आपत्ति आज जो बाधा आज जो आंधी आज जो तूफान आया है नास्तिकता का और भोगवाद का वो आस्तिकता को वो वैदिक परंपरा को ऋषियों की विद्या को उपनिषदों की विद्या को वेद विद्या को बिल्कुल आमूल चूल नष्ट करने में समर्थ हो गया है ये स्थिति आ गई है जिस समय भारत परतंत्र था ये ऐसे ऐसे बच्चे थे हम भी ऐसे थे छोटे छोटे और उस समय सुभाष आदि और महात्मा गांधी आदि जो भी प्रयास कर रहे थे उस समय और ये हमारे देखे बूढ़े लोग क्या बोलते थे भाइयों बहनों ये गांधी महात्मा पागल है ये भी पागल है अंग्रेजों का राज्य इतना है कि वो वहां सूर्य निकलता है और अस्त हो जाता है इतना बुरा राज्य है वो कभी जा सकता है ये गीत गाते थे ये बूढ़े लोग पर ये हमारे सुरेंद्र पाल जी जैसे क्या सुनाया करते हैं वो पाठ क्या बोलते हैं ये ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला लाखों में वार करता एक सूर मां अकेला बोल दो लो कम से कम ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला ला शूर हम तो पाठ को याद सारा जगत विरोधी तुझसे ऋषि दयानंद सारा जगत विरोधी तुझसे ऋषि दयानंद वैदिक धर्म का झंडा जग में कर सकता क्या भाई मैं तो ये काम करूंगा पंक्ति में आओ तो खड़े हो जाओ नहीं तो क्या करूंगा बस मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता चाहे माताएं हो पुरुष हो चाहे बालक हो बूढ़े हो घूमते रहो ना करना ना धरना संसार हमारे ऊपर आगे बैठ गया ये कबूतर की तरह नीचे बैठे कबूतर कितना पागल होता है बिल्ली मारती है खाती है उसको और ये बिल्ली यहां बैठी हो और जोर जोर से मीचता है जोर जोर से आंख मीचता है और वो चपट्टा मारकर उधर के खा जाती है आंख मीचने से बिल्ली नहीं जोड़ती अपने देश में ऐसी बिल्लियां हैं उनको खाएंगी और विदेश में इतनी बिल्लियां हैं वो भी खाएंगी हम दोनों तरह कबूतर बन के खाए जाएंगे बताओ क्या करोगे नहीं समझ में आया आ गया नहीं आया हमारे देश में बहुत भयंकर बिल्लियां हैं और हम कबूतर बने बैठे हैं और बाहर विदेश में भी बहुत बिल्लियां हैं हम उनके लिए कबूतर बन गए वो दोनों बिल्लियां खाएंगी या तो खाएगा या उनको मारो दोनों को क्या करोगे बोलो क्यों नहीं बोलते क्यों नहीं इन बिल्लियों को मारोगे या कबूतर बन के खाए जाओगे हम तो इस बात को मान के चलते और ऐसा करेंगे आप साथ चलो तो अच्छा ना चलो तो मत चलो और यही पाठ है हमारा ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला ये तो मैंने लौकिक और हमारी धारावाही वैदिक संस्कृति वेद दर्शन परंपरा को मिटाने वाली जो आपत्तिजनक आ रही है चीजें उसको मैंने संकेत किया और उसके साथ में दार्शनिक विज्ञान बहुत काम करता है और वो दार्शनिक विज्ञान क्या था अब आप कहेंगे स्वामी जी ये क्या छेड़ दिया यही कहोगे ना रोने लगोगे तो मैं जगाऊंगा फिर आपको वो क्या था विषय हमने साधे पर विचार किया हाँ जी अब कल साधक पर विचार चल रहा है अब ध्यान देना उत्तर ढूंढना पूर्व पक्षी वेद विरुद्ध विचारधारा वाला व्यक्ति पूर्व पक्षी होगा सिद्धांति उत्तर पक्षी होगा ये याद रखिए बोलना सिखाऊंगा आपको अब हां भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते हां जी बोलना सिखाऊ बोलना आता नहीं है क्या बोलना तो आता है पर ठीक बोलना नहीं आता क्या समझे बोलना तो आता है पर ठीक ठीक बोलना वो सिखाना है ठीक लो किसी व्यक्ति को समझाने के लिए या स्वयं को समझाने के लिए पांच बातें कही जाती है क्या समझ में आया ये दार्शनिक भाषा है प्रतिज्ञा एक हेतु दो उदाहरण तीन उपनय चार निगमन अब सुनाओ प्रतिज्ञा हेतु तीन उपनय चार निगमन हो गया यार या नहीं हुआ हुँ? मोटी भाषा प्रतिज्ञा उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है मैं इस मत को सिद्धांत को मानता हूं वो उसकी क्या है प्रतिज्ञा कहलाती है और हेतु वह कहलाता है वजह उर्दू में कारण प्रमाण उसको लोक में प्रसिद्ध घटना का नाम उदाहरण है उपनय उपमा देना किसी की और निगमन निष्कर्ष उपसंहार अर्थ आ गया समझ में या दो राम नहीं अब मैं इसका उदाहरण देता हूं घटा के दिखाऊंगा मैं आपको इनका प्रयोग कैसे होता है ये शरीर नाशमान है ये मेरी प्रतिज्ञा है क्या समझे ये शरीर नाशवान है ये मेरी सिद्धांत मान्यता है हेतु क्योंकि ये उत्पन्न होता है ये क्या है हेतु कारण और यह समझ दो या नहीं आई दो आ गई ये शरीर नाशवान है क्योंकि उत्पन्न होता है जो चीज उत्पन्न होती है वह नाशवान देखी जाती है गड़ा कपड़ा घास ये उदाहरण है आई बात सुन गड़े कपड़े जैसा ये शरीर भी है ये उपनय है इसलिए उत्पन्न होने के कारण ये शरीर नाशवान है अब आज मैंने इस शरीर को नाशवान सिद्ध कर दिया इसका कोई खंडन नहीं कर सकता अब देख लीजिए आप पांच बातों से मैंने ये सिद्ध कर दिया शरीर नाशवान है इसका कोई धरती पर खंडन नहीं कर सकता और ये सब जगह लागू होती है बातें कहीं भी चलिए आप स्वयं को समझाना हो तब भी यही काम देती है दूसरे को समझाना हो तब भी यही काम देती कल्पना करते हैं मैं और आप यात्रा कर रहे हैं पहाड़ों की हमारे पास में चावल है पानी भी है पर आग नहीं है क्या समझे चावल है और पानी भी है पर आग मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमको भूख लगी है इस पहाड़ में आग है ये मेरी प्रतिज्ञा है क्या समझे इस पहाड़ में आग है ये मेरी प्रतिज्ञा है क्योंकि धुआं उठ रहा है ये क्या है हेतु क्योंकि धुआं उठ रहा है जहां जहां धुआं होता है वहां आग मिलती है जैसे भट्ठे में रसोई घर में ये उदाहरण है भट्ठे की तरह पहाड़ में धुआं वैसा ये जैसा पट्टे में होता है इसलिए धूमे के उठने के कारण से पर्वत में आ गया अब पांच बात तो उसे आप समझ गए सब जगह लागू होगा ईश्वर है जी क्या समझे आप ईश्वर का सिद्ध करेंगे अभी नीचे ईश्वर है क्योंकि सब जगह ज्ञान पूर्वक क्रिया देखी जाती है ध्यान देना कुछ गंभीरता में चले गए हम ईश्वर है ये क्या है क्योंकि सारी सृष्टि की रचना ज्ञान पूर्वक हुई है इसलिए हेतु दे दिया जहां जहां ज्ञान पूर्वक क्रिया होती है वहां चेतन करता होता है जैसे कि घड़ियों के कारखाने में समझ वैसे ही सृष्टि की रचना बुद्धिपूर्वक है बुद्धिपूर्वक सृष्टि की रचना होने से ईश्वर फिर से सुन लीजिए जो नास्तिकों के प्रश्न आते हैं हमने तो इस विषय पर पुस्तक ही लिख दी है वो आपको मिली है ईश्वर का खंडन मंडन उसमें यही विषय है तो ये विषय आपको क्यों समझाया गया किसी विषय की जब परीक्षा करते हैं तो पांचों बातें सामने आती हैं अब चलो बोलना आपको आ गया थोड़ा एक व्यक्ति कहता है जीवात्मा नाम की कोई चीज नहीं है इस शरीर का नाम ही जीवात्मा है और कुछ नहीं है सिद्धांति ने कहा मरने के पीछे हाव भाव नहीं होते न हंसता है वो व्यक्ति न बोलता है ये शरीर जो है ये आत्मा नहीं है ये वाद विवाद है बड़ा गंभीर है शेष ने कहा कि जिन भूतों से पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से ये शरीर बना है वो सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं क्या समझे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच से शरीर बना है पांचों के पांचों जड़ पदार्थ हैं इनमें किसी में ज्ञान विज्ञान नहीं है इनसे बनी हुई चीज चेतन नहीं हो सकती कुछ समझ में आया सिद्धांति ने कहा चेतन नहीं हो सकती एक सूत्र मैंने कल सुनाया था सांख्य का सांख्यकार ने एक बात कही कि जीवात्मा शरीर से अलग चीज है क्यों षष्टी विविदेश आटपी छठी विभक्ति का प्रयोग होता है उसे सिद्ध होता है कि जीवात्मा अलग चीज है कैसे मेरा हाथ मुंह देखते हो तो आप ये नहीं समझते मैं गोरा हूं मैं काला हूं मैं मोटा हूं मैं बूढ़ा हूं मैं बुढ़िया हूं क्या समझते हो आप कभी सच बोले ना वैसे नहीं जब दर्पण में मुंह देखते हैं या दिख जाता है तो वो कहता मैं तो काला हूं मैं गोरा हूं मैं तो लंबा हूं मैं ओछा हूं मैं पतला हूं मैं मोटा हूं मैं बूढ़ा हूं मैं बुढ़िया हूं मैं बालक हूं इसका मतलब क्या है ध्यान दो कभी मन में ये बात बैठ गई हो हम समझ गए बिल्कुल नहीं समझे आप चलते हो भागते हो शरीर भागता है आप कहते मैं भाग रहा हूं नहीं समझे शरीर मोटा है आप कहते मैं मोटा हूं शरीर गोरा है आप कहते हैं मैं गोरा हूं नहीं होता क्या ऐसा नहीं बस जीवात्मा को न समझने का मतलब यही है लड़कियां सोच रही हैं हम तो लड़की हैं लड़के सोच रहेंगे हम लड़के हैं आत्मा कोई नहीं वो लड़की है वो लड़का है आत्मा कुछ नहीं ना हम लड़की हैं ना हम लड़के हैं ना हम बूढ़े हैं न हम बूढ़िया हैं न हम मोटे हैं न हम पतले हैं हमारी गाड़ी मोटी पतली है क्या समझ में आया हमारी गाड़ी बूढ़ी है हमारी गाड़ी लड़की है हमारी गाड़ी लड़का है जीवात्मा ने लड़का है ना लड़की है ना हिजड़ा है ना नपुंसक है कुछ नहीं है <laughs> सब जैसा एक अच्छा तुम ब्रह्मा कुमारी वाले तो यू कहते हैं हम तो ये कहते हैं माता मर गई पुरुष का जन्म धारण कर लेते पुरुष मर गया वो स्त्री बन जाता है नहीं समझे आप और भाई ब्रह्मा कुमारी वाले भाई क्या कहते हैं स्त्रियां मर के सदा स्त्रियां बनेंगी कभी पुरुष नहीं बनेंगे पुरुष मरने के पीछे पुरुष ही बनेगा गधा मरने के पीछे गधा ही बनेगा कुत्ता मरने के पीछे कुत्ता ही बनेगा नहीं समझे इस बात को पर अपनी वैदिक परंपरा में चीटी मर के जन्म लेगी हाथी बन सकती है हाथी मर के जन्म लेके चीटी बन सकता है स्त्री बन के पुरुष बन जाती है पुरुष मर के स्त्री का शरीर धारण कर लेता है इसलिए आत्मा में कोई अंतर नहीं आता ध्यान देना इस बात को सुनिए अच्छी तरह से यदि कोई व्यक्ति आत्मा को समझ जाएगा तो परमात्मा को अवश्य ही समझ जाएगा ये नियम है जो आत्मा को नहीं समझा वो परमात्मा को नहीं समझ सकता मोटा संसार है ये पच्चीस तो गद्दे को देख रहे हैं देख रहे हो ना किस चीज का बना हुआ है मोटी चीज को पहले देखते हैं फिर शरीर को देखते हैं और फिर इंद्रियों को जानेंगे पीछे बहुत आगे फिर मन को जानेंगे बहुत आगे फिर आत्मा को जानेंगे बहुत आगे फिर परमात्मा को जानेंगे जो जीवात्मा को नहीं जानता वो परमात्मा को नहीं जान सकता तो हम काम चल रहे थे शक्ति विवृत्ति का व्यापार होता है मेरा हाथ मेरा पैर इसे पता चलता है इस गाड़ी का संचालक गाड़ी में रहने वाला जो कहता है मेरा हाथ वो जीवात्मा अलग चेतन तत्व है अच्छा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा याद रखना हाँ जी हाँ उसका भी वही है उस हाँ हाँ, हाँ मैं बोलता हूं वो मैं बोलता हूं बोलना एक चीज है और बोलने वाला कोई और है हाँ हाँ, हाँ सुनो उसमें दो बातें हैं अब किसी ने बाजा बजाया मैं बाजा बजा रहा हूं कोई दोष नहीं बाजा बज रहा और मैं बजा रहा हूं उसमें कोई दोष नहीं आएगा बस बस अब लंबा नहीं चलाना अब लंबा वाली बात चलेगा अलग एक तो बात आ गई बस यही समाप्त अब ध्यान दो तो। एक पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि भाई ठीक बात है शरीर आत्मा नहीं है आत्मा शरीर से पृथक है मान लिया पर एक कहने लगा भाई बात ऐसी है शरीर तो आत्मा नहीं है इंद्रियों को आत्मा मान लो अलग से आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है कहा गए हम दूसरा पक्ष क्या उठा इंद्रियों को आत्मा मान लो आत्मा को अलग मानने की जरूरत नहीं है आंख देखने का काम कर लेती है कान सुनने का कर लेता है नासिका सूंघने का कर लेती है रसना चखने का कर लेती है त्वचा ठंडे गर्म का आत्मा की कल्पना क्यों करते हो पांच इंद्रिया व्यापार कर रही इनका नाम आत्मा रख दिया गया अलग से आत्मा मानने की क्या जरूरत है समझ में आया थोड़ा है जी बूढ़िया माता भी समझ रही है नहीं हमको तो जब तक बूढ़ा बूढ़िया भी नहीं समझेंगे तब तक तो तसल्ली नहीं होती थोड़े से थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ जाए तब हम सोचते हैं उपदेश हो गया ध्यान से सुन लो पक्ष उठा है नया आंख देखने का काम कर लेती है कान सुनने का काम कर ही लेता है नाशिका सुगंध का गंध का कर लेती है रसना कड़वे मीठे का कर लेती है तो सा गर्म ठंडे का जीवात्मा की कल्पना क्यों करते हो ये पांच के पांच काम चला लेंगे ठीक है ना जी बोलो ठीक है ना सुनो गलत क्यों है अब ये सुन लो ये है गौतम न्याय दर्शन का रचयिता कौन है गौतम ऋषि ये न्याय दर्शन का बनाने वाला उसने कहा इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती क्या कहा दर्शन स्पर्शनाभ्याम अन्य अर्थ ग्रहणा सूत्र बनाया मैं इसको मोटी भाषा में खोलूंगा घबराना नहीं है दर्शन स्पर्शनाभ्याम अन्य अर्थ ग्रहणा ये सूत्र बनाया ऋषि ने कहा इंद्रिया आत्मा नहीं है इनसे अलग आत्मा है उन्होंने कहा देखो इंद्रिय जो है नेत्र केवल रूप को देख सकता है शब्द को नहीं सुन सकता कान शब्द को सुन सकता है रूप को नहीं देख सकता रसना कड़ुए मीठे को बता सकती है रूप को त्वचा ठंडे गर्म को बता सकती है रूप को प्रत्येक इंद्रिय एक विषय को बता सकती है और दूसरे विषय को नहीं बताती कल आपने नींबू खाया क्या खाया बड़ा चटपटा लगा लगा फिर उसको इतनी दूर दया देखा नहीं मुंह को और मुंह में पानी आ गया बताओ क्या कारण है ढूंढो कल जो जीव आने चखा था उसको जी भाई बताएगी उसको चखा था तो वो जानती है कड़वा मीठा और देखा आंख से आंख के देखने से मुंह में पानी क्यों आया Thank you. आप बोलो ध्यान से सुनो रसना ने चख्या था कल आंख ने तो चख्या नहीं ये तो आंख ने तो खाया नहीं नींबू को जीवात्मा है नहीं उनके मत में उसका पक्ष है ना तो जब रसना ने चख्या था कल तो रसना तक तो आया ही नहीं वो तो दूर रखा है और आंख ने उसको देख लिया पीले पीले नींबू को और मुंह में पानी आ गया ये क्या मतलब है बताओ क्यों आया ध्यान दो जिसने रसना से चखा था वही आंख से देखने वाला पीछे बैठा है अब क्या समझ में आया जिसने कल या प्रातः काल उस नींबू को खाया था वही व्यक्ति आंख से देखने वाला भी वही है और रचना से चखने वाला भी वही है इससे पता चला इंद्रिया आत्मा नहीं है इस रुमाल को किसी ने यहां देखा और कल देखा था यहां आंख से देखा था ना या नहीं आंख नहीं लगाया आंख से देखा वो कहता है जिस रुमाल को मैंने कल आंख से देखा था आज पचास छू रहा हूं आप बताओ क्या मतलब निकला नहीं आया समझ में किसी व्यक्ति ने रुमाल को यहां देखा कल आंख से देखा था है? और वो क्या कहता है जिस रुमाल को मैंने कल यहां देखा था उसको मैं छू रहा हूं आंख से देखने वाला और त्वचा से छूने वाला कोई एक व्यक्ति पीछे बैठा है अब तो समझ में आया या नहीं आया एक इंद्रिय का विषय कल जो देखा था दूसरी इंद्रिय से पता वैसे नहीं लग सकता दोनों इंद्रियों से काम लेने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है ने ऋषि ने यह सिद्ध किया कि इंद्रिया आत्मा नहीं है इंद्रियों का संचालक आत्मा है कोई और है आत्मा है अब विषय बड़ा गंभीर है आगे आगे बढ़ता जाऊं तो पता नहीं कितने दिनों में पूरा हो फिर आपको तो उतना ही सुनाएंगे जितना सुनाना है यहां तक पहुंच गए हम आगे चल के मन के ऊपर भी यही बात आई है एक ने कहा मन को आत्मा मान लो मन को उसका भी खंडन कर दिया वो गैर आदेश है उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा यहां से मन को भी आत्मा नहीं माना इंद्रियों को आत्मा नहीं माना शरीर को आत्मा इन सबसे अलग तत्व है आत्मा अब एक प्रश्न आ गया ये आत्मा नाम का तत्व है शरीर में एक जगह है या पूरे शरीर में व्यापक है एक व्यक्ति को बीस सुई चबो दो बीस सब का अनुभव होगा इसे क्या पता चला उत्तर ढूंढा करो हाँ इसे क्या पता चला पूरे शरीर में व्यापक है इसे यह पता चला अच्छा आप ही बताओ पूरे शरीर में है या एक जगह रहता है जीवात्मा के विषय में तीन मान्यता कितनी जीवात्मा शरीर में होता हुआ सारे संसार में व्यापक है एक मान्यता जीवात्मा नाखूनों तक पूरे शरीर में व्यापक है ये दूसरी मान्यता जीवात्मा एक जगह रहता है जू जितनी जगह पर सारे शरीर में नहीं है अब तीनों मान्यताओं को देख लो अच्छी तरह से हाँ जी पहली मान्यता दौड़ाते रहो नींद नहीं आएगी शरीर में रहता हुआ जीवात्मा परमात्मा की भांति आकाश पताल में सब जगह व्यापक है ये पहली मान्यता दूसरा मत शरीर जितना लंबा चौड़ा है हाथी में हाथी जितना सूर में सूअर जितना घोड़े में घोड़े जितना जहां तक शरीर है वहां तक जीवात्मा व्यापक है ये दूसरा मत है तीसरा मत जीवात्मा शरीर में एक जगह रहता है तीन पक्ष हमारे सामने आए पर याद रखना जीवात्मा शरीर में रहता हुआ सर्वव्यापक नहीं है दूसरी बात जहां तक हमारे नाखून हैं पूरे शरीर में जीवात्मा व्यापक बिल्कुल नहीं है आपका परिश्रम न होगा सीधा बता देता हूं सीधा सिद्धांत एक ही जगह जीवात्मा रहता है शरीर में यह सिद्धांत है हाथी मर गया उसको कीड़ी का जन्म देना है यदि हाथी जितना लंबा आत्मा हो तो कहां जाएगा वो बोलो नहीं आया समझ में हाथी मर गया उसको जन्म देना है चीटी का कहा जाएगा इतना लंबा छोड़ा आत्मा लटकता रहेगा कीड़ी के कीड़ी मर गई हाथी का जन्म ले लिया और रबड़ की तरह बढ़ेगी वो रबड़ की तरह बढ़ेगी बढ़ेगी बिल्कुल नहीं ध्यान दो अब इसका प्रश्न का उत्तर बीस सुई चबोदी एक काल में और काल पता चलता है ध्यान देना जीवात्मा और मन और नाड़ियां इतनी तीव्र गति है वो इतनी तीव्रता से छूटा है पता नहीं चलता एक काल में दिखाई देता है अमेरिका में इंग्लैंड में ओम बोला भारत में कितनी देर लगी आने में कल्पना कीजिए एक फुट दो फुट तीन फुट कितनी फुट है कौन मापेगा इसको इतना समय वो इतनी तेजी से आता है जैसे काल ही नहीं लगा हो पर काल लगता है आगे बात समझ में जीवात्मा शरीर में एक ही जगह रहता है वही जीवात्मा मरने के पीछे दूसरे शरीरों को धारण करता है अब आगे बढ़ जाओ ये जीवात्मा जो है इसको भगवान का अंश मान ले तो टुकड़ा जी बोलो जीवात्मा को भगवान का टुकड़ा मान ले तो अधिकतर लोग यही उत्तर देते हैं कि जीवात्मा भगवान का अंश है उसका टुकड़ा है ध्यान से सुनो इस जीवात्मा भगवान का कोई टुकड़ा उकड़ा नहीं है ईश्वर अलग चीज है और जीवात्मा अलग चीज भगवान का टुकड़ा मानो तो आनंद स्वरूप होना चाहिए फिर तो आनंद स्वरूप से पैदा हुआ है आनंद स्वरूप होना चाहिए ये तो बेचारा दिन रात दुखी रहता है आनंद के लिए टक्कर मारता रहता है यदि भगवान का टुकड़ा हो भी जाता तो आनंद स्वरूप होता इसलिए भगवान का टुकड़ा नहीं है ये दुनिया को बहकाने की बात है कि हम भगवान का टुकड़ा है हम भगवान का अंश है अब आगे बढ़ो ध्यान दो ये जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है और अपने कर्मों के अनुसार अगली योनियों में जाता है शरीर को छोड़ देता है और कर्मों के अनुसार अगली योनियों में जाता है ध्यान देना इसके भी भाग जान लेना जब पचास अच्छे बुरे कर्म होते हैं पचास अच्छे और पचास बुरे तो साधारण माता पिता के गर्भ में जन्म लेता है क्या समझे जब आधे पाप और आधे पुण्य कर्म होते हैं तो साधारण माता पिता के गर्भ में जन्म लेता है सत्तर प्रतिशत पाप और 30 प्रतिशत पुण्य जब होते हैं तो गधा घोड़ा सुअर का जन्म लेता है सत्तर प्रतिशत अच्छे और तीस प्रतिशत बुरे तो ऊंचे माता पिता धार्मिक विद्वान निरोग संपन्न वहां जन्म लेता है कितने भाग बन गए तीन बन गए उच्च कोटि के कर्म करता हुआ निष्काम कर्म करता हुआ योगाभ्यास करता हुआ ये कहना चाहिए नब्बे प्रतिशत पचानवे तो प्रतिशत इतने उत्कृष्ट कर्म करता है ज्ञान विज्ञान कर लेता है तब ये मोक्ष में चला जाता है इतने लंबे काल तक जन्म नहीं देता कितना लंबा काल है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक सृष्टि बनी रहती है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक सृष्टि बिगड़ी रहती है ये सृष्टि जब बनी रहती है इसको ब्रह्म का दिन बोलते हैं क्या बोलते हैं जब ये सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है तो उसको ब्रह्म की रात्रि बोलते हैं क्यों जी क्या बोलते हैं और दोनों का जोड़ करो तो कितना हो गया चार आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष होता है यानी आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष होता है और आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष को जोड़ दो गुना करो छत्तीस हजार से तो इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष बनता है ठीक है इतने काल में ये ईश्वर ईश्वर का आनंद भोगता हुआ फिर मनुष्य जन्म लेता है विभाजन कर लीजिए अच्छी तरह से हम यदि पचास अच्छे कर्म करते हैं पचास बुरे करते हैं तो मनुष्य जन्म साधारण माता पिता के घर में जन्म हो जाएगा निष्काम कर्म करेंगे बहुत कम पाप रह जाएगा तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी और ध्यान देना मोक्ष का सुख भोग की जीवात्मा मनुष्य का जन्म लेता है क्या समझ में आया नहीं बोलते नहीं आप मोक्ष का आनंद भोग करके जीवात्मा